मैं अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा ऐसा खैर खा हूं जिस पर तुम इत्मीनान कर सकते हो